और तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ डीएन नगर ब्रांच क्यों भेजा गया है मैं मंजू मैडम के मर्डर केस की जांच वहाँ पनवेल ब्रांच में ही रहते हुए भी, भी तो कर सकती थी ना नैना ने जवाब दिया और तुम खुद देखो जिस तरह से मंजू मैडम का मर्डर करके साजिद को उस केस में फंसाया गया है वो कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है उसमें जरूर किसी न किसी अंदर के आदमी का हाथ है विक्रांत की आंखें लगभग गीली हो चुकी थी उसने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा मैं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज अब अब तुम मुझे कुछ मत बताओ मैं मैं बस तुम्हें फंसाने के लिए थोड़ा स्टाइल मार रहा था मुझे नहीं पता था कि मैं खुद के लिए ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लूंगा क्या नैना शॉक्ड रहेगी तुम सच में निरा मूर्ख हो इडियट और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इश्क लड़ाऊंगी तुम्हें डर भी नहीं लगा मेरे मेरे बारे में सोच के सच में नैना तुम सच बताना क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर रही थी क्या तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं कर रही थी विक्रांत ने सवाल किया इसके साथ ही उसके मन में ये ख्याल भी आया कि अदृश्य शक्ति ने भी आज उसके साथ धोखा कर दिया आज उसे बोर्ड में पानी दिया गया था जिसका मतलब लड़की से था लेकिन यहाँ तो विक्रांत ने खुद के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली थी अब उसे इतने डेंजरस केस के बारे में पता चल चुका है सो उसकी जिंदगी तो ऐसे ही खतरे में आ चुकी है देखो विक्रांत मैंने तुम्हें ये सब ऐसे नहीं बताया मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है और तुमने जिस बहादुरी से साजिद को अरेस्ट किया था वो भी मुझे अच्छे से पता है इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया है इन केस पर काम करने के लिए तुमसे बेटर और कोई हो ही नहीं सकता नैना ने विक्रांत को कन्विंस करने की कोशिश की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी और को ढूंढ लो मुझे फोकट में अपनी जान नहीं देनी मिलना जुलना कुछ नहीं बस अपनी जान गंवाने निकल पड़ो विक्रांत ने साफ तौर पर नैना के साथ काम करने के लिए मना कर दिया ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी लेकिन एक बात याद रखो तुम जाकर जैसे ही किसी के आगे मुंह खोलोगे देखो फिर किसकी जान पहले जाती है नैना ने विक्रांत को थोड़ा डर दिखाने की कोशिश की देखो नैना तुम ये मान लो कि ना तुमने मुझसे कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना बस बात यही खत्म विक्रांत ने फिर थोड़ा खींचते हुए कहा तुम कैसी पुलिस वाली हो तुम तुम मुझे डरा रही हो नैना को विक्रांत की मनसा समझ आ रही थी उसने एक बार फिर से विक्रांत के सामने ऑफर रखा अच्छा चलो अगर हम दोनों ने मिलकर ये केस सॉल्व कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी क्या जान की बाजी लगाने के बाद सिर्फ डेट अगर एक रात की बात करो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ अभी विक्रांत की पूरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक जोर से घूसा उसके मुंह पर लगा और उसका सिर गाड़ी की खिड़की में जा बेड़ा धम इसके बाद विक्रांत और नैना के बीच में कोई बात नहीं हुई दोनों वापस पुलिस स्टेशन लौट आए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए पुलिस ब्रांच लौटने के बाद से नैना और विक्रांत के बीच कोई बात भी नहीं हुई लेकिन विक्रांत काफी असहज महसूस कर रहा था उसे थोड़ा गिल्ट सा फील हो रहा था नैना ने जब से उसे ये बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार बैठा है जिसने मंजू के मर्डर में साथ दिया है तब से विक्रांत को बहुत बुरा फील हो रहा है विक्रांत मनी मन सोच रहा था कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा गद्दार कौन हो सकता है अगर उसके पास कई सारे लाइट डिटेक्टर मशीन होती तो वो एक एक आदमी का टेस्ट करके उस गद्दार को ढूंढ निकालता खैर छोड़िए इस बात को उधर अब मंजू का केस खत्म हो चुका था कोर्ट ने साजिद को ही पूरी तरह से दोषी मान लिया था इसके साथ ही पुलिस ने भी इस केस को क्लोज कर दिया और अब डी नगर ब्रांच की पुलिस फिर से उन्नीस के किडनेपिंग केस पर काम करने में जुट गई विक्रांत ने भी अपना ध्यान उस किडनैपिंग केस पर लगाना शुरू कर दिया विक्रांत की आज उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम लीडर चेतन और अन्य ऑफिसर्स के साथ मिलकर मिनी बस के ड्राइवर अहमद खान के घर पूछताछ के लिए जाना था जब ये किडनैपिंग केस हुआ था उस वक्त से ही लोगों को पूरा शक अहमद खान पर ही था यहाँ तक कि उस वक्त पुलिस ने भी अहमद खान को दोषी मानकर काफी जांच पड़ताल की थी लेकिन आज तक अहमद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला किडनैपिंग के बाद 26 सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला उसके घर वालों ने तो उसे पहले ही संतोष कर लिया था 26 साल बाद अब आज अहमद का अवशेष मिला है तब भी बहुत से लोग अहमद खान को ही दोषी मान रहे विक्रांत को पता चला कि उस वक्त अहमद खान लोनावला में ही रहता था उसकी पत्नी और एक बेटा भी था पत्नी घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और अहमद ड्राइवर की नौकरी करता था एक ही बेटा था सो ज्यादा पैसे की दिक्कत नहीं थी इस तरह से देखा जाए तो अहमद के पास इस तरह की किडनैपिंग करने की कोई खास वजह नहीं थी जब उन्नीस में ये किडनैपिंग केस हुआ था उस वक्त अहमद के बेटे की उम्र मात्र दो साल थी आज वो अट्ठाईस साल का जवान हो चुका है इस किडनैपिंग के चलते अहमद के परिवार वालों को बहुत दुख झेलना पड़ा था उस वक्त तो उनका लोनावला में रहना मुश्किल हो गया था पुलिस से लेकर आस पड़ोस वाले इतना परेशान करते थे कि ताना मारते थे कि अहमद की पत्नी हसीना खान इससे परेशान होकर वो घर छोड़कर चली आई अब अहमद का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता है पुलिस अब अहमद की पत्नी हसीना से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची तो पुलिस को अहमद की पत्नी और बच्चे को देखकर थोड़ा दुख भी हुआ अहमद की पत्नी ने उसकी मौत के बाद दोबारा शादी नहीं की उसने अकेले मेहनत करके अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है आज जब विक्रांत और बाकी पुलिस वाले उसके घर पहुंचे तो वो पूरी ईमानदारी से पुलिस की मदद कर रही थी उसे जो कुछ भी पता था उसने सब पुलिस को बताया वो खुद चाहती थी कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे ताकि उसके पति के ऊपर लगा दाग मिट सके हसीना कभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता था वहीं अहमद का बेटा जो अब 28 साल का जवान हो चुका है उसके मन में पुलिस को लेकर बहुत घृणा है वो मानता है कि पुलिस किडनैपर्स को आज तक नहीं पकड़ पाई इस वजह से पूरी दुनिया उसके बाप को ही मुजरिम मानती रही और इन वजह से वो आज तक सिर उठा के नहीं चल पाया पुलिस के नाम से ही उनका खून खौल उठता है यहाँ तक कि जब विक्रांत और उसके साथी पुलिस वाले उसके घर पर पूछताछ के लिए पहुंचे तो वो उन्हें अपने घर में भी नहीं दाखिल होने दे रहा था पुलिस वालों और अहमद के बेटे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि अपनी माँ के कहने पर भी नहीं रुक रहा था हालांकि बाद में अहमद की पत्नी हसीना ने खुद ही अपने बेटे की तरफ से पुलिस वालों से माफी मांगी उसका एक ही बेटा था उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी जी रही थी इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे पर कोई पुलिस केस बने हसीना ने पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट की कि उसे उसके पति का मिला हुआ अवशेष दे दिया जाए ताकि वो उसे दफना सके और अपने पति की आत्मा को शांति दिला सके जब हसीना अपनी सारी बातें पुलिस वालों को बता रही थी तो वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके काफी जोर जोर से रोने लगी थी यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे विक्रांत से उसका रोना देखा नहीं गया तो वो वहां से उठकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गया गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठकर उसने अपना सिर पीछे हेड रेस्ट पर टिका दिया और आंखें बंद करके सोचने लगा विक्रांत इस वक्त काफी उलझन में जी रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है